आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हमने पहला और दूसरा राउंड कंप्लीट किया है अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का अब हम लोग फाइनल फिनाले में यानी थर्ड राउंड में आ चुके हैं जहां पर बच्चे अभी परफॉर्म करेंगे टॉप सेवन में बच्चे आ चुके हैं और टॉप सेवन के बच्चों के नाम मैं आपको बता देता हूँ तरुण इस कार्यक्रम के अंतिम राउंड थर्ड राउंड में फाइनल फिनाले में जो टॉप सेवन में आए हुए बच्चे हैं उनका नाम मैं बता दूं पहला प्रिया भाटिया दूसरा सुरेश प्रजापत तीसरा तेजपाल चौथा हिमांशु पांचवा बबली छठवां अनुसूर्य पवार और सातवां पूनम नवनानी तो ये सारे बच्चे आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में तरंग में फाइनल राउंड में परफॉर्म करने वाले हैं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं विधिवत कार्यक्रम शुरू हो रहा है और सम्राट पृथ्वीराज चवन गवर्नमेंट कॉलेज में ये कार्यक्रम होने जा रहा है सेमिनार हॉल में हो रहा है जहाँ पर सौ डेढ़ सौ बच्चे जो है इस हॉल में पहुंच चुके हैं और पूरा स्टाफ कॉलेज का पूरा स्टाफ भी मौजूद है और खास संगीत के टीचर दी माथुर मैडम भी है और उनके साथ उनके साथी भी हैं और ख़ास बियावर से दुष्यंत जी भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में एज ए जज करके वो बैठे रहेंगे और हमारे साथ रेडियो मधुबन की टीम के साथ क्षितिज सिंह राठौड़ जी है जो भी जज के रूप में रहेंगे तो दो जजेस हमारे बीच में हैं और इन सातों बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन देंगे तो चलिए बहुत ही खुशी की बात है तरंग इस कार्यक्रम का आखिरी final round Samrat Prithviraj Chauhan government college के सेमिनार हॉल में हो रहा है और डॉक्टर प्रताप पिंजानी जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सुचारू रूप से यहाँ तक पहुँचाने में उनका सहयोग बहुत ही रहा और उन्होंने संकल्प किया और वो संकल्प आज साकार रूप ले रहा है कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र जी भी हैं और उनके साथी भी हैं और इस इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अजमेर के ब्रह्मा कुमारी शांता दीदी और अंकिता दीदी भी उपस्थित है तो हमें बहुत खुशी है तो आइए कार्यक्रम के आगाज में आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो तो आइए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे आप सभी जानते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार सभी का स्वागत हो रहा है और स्वागत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना के लिए विद्यार्थी आ चुके हैं हमारे बीच में और कार्यक्रम संचालन कर रही है मैडम तो उनसे भी निवेदन है कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू करें आप रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो कार्य शुभारंभ someone who is so they instructor you you in pratisha prativasthu priya ka alokita tarah saurabh hai aapke ऊपर मृदुल मोक्षा कुल में प्रकट देव का सिंधु अपर्य तेरे का और बदल कुलम छात्राओं को सरस्वती वंदना के लिए अनुरोध करें हमारे संस्थान के आचार्य जी के स्वागत के लिए मैं श्री जितेंद्र और है वो टैलेंट का प्रोग्राम सिंगिंग कॉम्पिटिशन का प्रोग्राम वो करवा चुके हैं और उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या आप इस प्रकार का प्रोग्राम करा सकते हैं चूंकि ये मेरा फील्ड ही है मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ लेकिन संगीत से निरंतर रूप से जुड़ा रहा हूँ मेरे जीवन का आधा समय मैं संगीत के साथ जुड़ा रहा हूँ जितना भी खाली समय मिलता है मैं संगीत सुनता रहता हूँ मुझे लगता है कि संगीत मुझे आधे आजीवन में तनाव से मुक्त रखता है इसलिए मैंने बिना किसी कठिनाई के बिना कोई सोचे मेरे को पता था कि शिव बाबा आदम मेरे साथ हैं भगवान राम मेरे साथ हैं और कोई भी लक्ष्य होता है तो मैं उसके लिए घबराता नहीं हरदम तैयार रहता हूँ कि जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उसमें मेरे शिव बाबा मेरे भगवान राम मेरी बहुत सहायता करेंगे और तुरंत मैं और फिर इस प्रोग्राम की प्लानिंग की गई उन्होंने कुछ मेरे पास मेल भेजे प्रोग्राम क्या होगा इसके बारे में बताया इस संबंध में मैंने संगीत विभाग के विभाग अध्यक्ष साहब मैडम मधु माथुर के साथ संपर्क किया उन्होंने सहर्षी अपना योगदान देने के लिए हाँ की और मैं उनका बहुत आभारी हूँ तो उन्होंने तुरंत मेरे को हाँ की कुल अट्ठाईस बच्चों का चयन किया प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट करने वाले थे जिसमें स्काइप के माध्यम से फर्स्ट राउंड किया गया अट्ठाईस बच्चे थे जिसमें से सोलह बच्चे सेलेक्ट हुए सेकेंड राउंड के लिए हमने सेकेंड राउंड स्काइप के ऊपर किया है और जिसमें से सात बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनके नाम अनिता जी के पास है कि कौन से सात बच्चे हैं उनको सूचित भी कर दिया जाता है तो आज वो सात बच्चे इस प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं अपनी प्रस्तुति के साथ इसको कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहा हूं ये भजन मुझे बहुत शुरू से बहुत प्रेरित करता है और ये एक ऐसा भजन है जिसमें हमारे संस्कृति के आदर्श भगवान राम और कृष्ण का हर पंक्ति में वर्णन आगे बढ़ते हैं नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम को अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हमारे बीच में आज फाइनल राउंड में प्रेजेंटेशन परफॉर्म करेंगे और डॉक्टर पिंजानी को आपने सुना वो बच्चों के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए भजन भी पूरे दिल से गाया ताकि बच्चों का उमंग बढ़ सके उमंग बढ़ सके और आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में थर्ड राउंड के परफॉर्मर्स को हम बुलाना चाहेंगे तो सबसे पहले प्रिया बाटिया हमारे बीच में आएगी प्रिया बाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए और उसके बाद तेजपाल जी हमारे बीच में रहेंगे सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए Guru Bhagwan Hare. आपसे शेयर कर रही हूँ वहाँ तीन चीजें हुआ करती थी क्योंकि हमें पता है कि आज भी जिन देवी देवताओं के चित्र हम लगाते हैं देखने में क्या आता है देवी देवताओं के पास तीन चीजें थी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस ये तीनों चीजें उनके जीवन में क्यों थी क्योंकि उनके पास तीन चीजें हुआ करती थी रास रंग और नाथ वो समय था लेकिन पता है समय बीतता जाता वो समय बीता और आज इस समय पर हम आ गए हैं और हम आज देख भी रहे हैं कि आज हमारी भारतीय दौड़ती जिंदगी में ना रास बचा है ना कोई रंग है ना कोई नाथ है लेकिन आज जब इस मंच पर आकर ये बात हो रही है ये म्यूजिक चल रहा है तो निश्चित रूप से हम सब अनुभव कर सकते हैं कि कैसे हमारा मन शांत हो रहा है और कितनी खुशी महसूस हो रही है कुछ भी नहीं है लेकिन एक म्यूजिक कैसे हमारे भीतर तक उतरती जा रही है आत्मा का संगीत से बहुत गहरा विषय है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा था लेकिन आज कहीं ना कहीं ये हमसे दूर होता जा रहा है ब्रह्म कुमारी में हम नियमित रूप से राज्यों का मेडिटेशन करते हैं जिस मेडिटेशन में हम म्यूजिक बाहरी म्यूजिक का भी हम उसपे यूज करते हैं प्रयोग करते हैं लेकिन साथ साथ हम अपने भीतर भी एक संगीत को बजाते हैं और वो संगीत है सकारात्मक शब्दों का वो संगीत है स्वयं से जुड़ने का जिसको हम कहते हैं कि हम कमेंट्री करते हैं राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम बहुत कम समय में अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकते हैं और उस शक्ति से हम अपने जीवन में वो हर बदलाव ला सकते हैं जो हम चाहते हैं राज्य के अभ्यास के लिए जो मूल चीज की आवश्यकता है वो सर्वप्रथम है कि हम अपनी पहचान अपने आप को जाने कि हम कौन हैं क्या हम स्वयं को पहचानते हैं क्योंकि जब हम स्वयं से दूर हुए तो जो चीज हमारी थी हम उससे दूर हो गए हम रात से दूर हुए रक्त से दूर हुए हम नाट से दूर हुए क्यों क्योंकि हम स्वयं से दूर हो गए हमें क्या चाहिए वो हमें पता भी नहीं था हम उस चीज के भाग पीछे भागने लगे जो इस भौतिक शरीर से जुड़ी हुई थी इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो खाली खालीपन महसूस होता है इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप से जुड़ना अपने आप को पहचानना अपने आप को जानना जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं हूं मेरी वास्तविकता क्या है क्योंकि ये शरीर अपने आप को नहीं बोल रहा है हाँ, अगर इस मुख से संगीत निकल रहा जरूर कोई सत्ता अंदर में बैठी है जो संगीत को इस शरीर से बाहर निकाल रही है मुख के माध्यम से तो हमारी असली पहचान क्या है कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना है जिनको हम एक भाषा के साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि हम एक आत्मा है रूह एक चैतन्य शक्ति है और हम आत्मा ने उस परंपरा पर आत्मा की संतान है ईश्वर की संतान है इसलिए जब कभी भक्ति का गीत गाते हैं तो एक बहुत सुखद अनुभव हाँ, महसूस होता है यो तो संगीत तो बहुत हाँ, बहुत है अलग अलग प्रकार के भी हैं और आज के इस दौर में जिस प्रकार का संगीत हाँ, हमारे सामने आ रहा है हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है और आज का वो वाला संगीत सुने तो शायद उसमें परेशानी दो आ जाती है क्योंकि उस संगीत में संगीत का कुछ हाँ, हाँ, मधुरता है ना उसमें वो ताकत है सिर्फ वो बैंड बाजा बजना होता है और शब्द क्या होते हैं वो हम सब जानते हैं तो वास्तव में उसको हम संगीत नहीं जिस संगीत में परमात्मा की याद समाई हुई होती है वास्तव में वो आत्मा के भीतर तक उतर कर आत्मा को बहुत शक्ति प्रदान करता है क्योंकि पर बहुत गहरा रिश्ता है और ये रिश्ता था जब हम शरीर में हैं तो भी है और शरीर के बाद भी होगा राजयोगा मेडिटेशन में यही है कि किस प्रकार हम अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जोड़ सकते हैं मैं कौन हूँ एक चैतन्य शक्ति परमात्मा कौन है जब मैं आत्मा चैतन्य हूँ तो निश्चित रूप से मेरे प्रकार परमात्मा भी चैतन्य है जैसे मैं एक रोशनी हूँ एक प्रकाश हूँ मुझ में प्रकाश है शांति का मुझ में प्रकाश है पवित्रता का मुझ में प्रकाश है ज्ञान का वैसे ही उस पिता परमात्मा के भी ये सारी चीजें हैं लेकिन वो शांति का साधन है पवित्रता का साधन है ज्ञान का साधन है शक्तियों का साधन है और उससे जुड़ने के लिए जैसे जो लोग यहाँ पर है कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं संगीत से जुड़ने के लिए भी क्या चाहिए एकाग्रता हाँ? हर बातों से अटैच होकर मन को एकाग्र करके फिर आप सुर को पकड़ते हो और आप उसके भाव में उतरते हो उसको फील करते हो और फिर हाँ, वो आवाज निकलती है गाने को तो हम सुने गाने में भी गाने लेकिन जब मैं गाऊंगी तो शायद हाँ, क्या नंबर मिलेगा मुझे लेकिन अभी हाँ, अभी तक जिन्होंने भी गीत गाया बहुत सुंदर बहुत अच्छा और कितने गहराई में उतर कर वो गीत गा रहे थे मेरे अंदर में यही चिंतन चल रहा था कि हर कार्य के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए कितना उसको फील अगर इनके गाने में वो फील नहीं होगा तो हमें भी वो रस नहीं आएगा हमें रस किस बात से आ रहा है जितना मजा हमें सुंदर है अभी बता रहे जी बहुत सुंदर तरीके से गीत गा रहे थे और निश्चित रूप से जब वो गा रहे थे तो उसमें वो समाते चले जा रहे थे तो हमें भी मजा आ रहा था क्योंकि ये उस चीज को एंजॉय कर रहे थे जब तक हम किसी चीज के गहराई में नहीं उतरते वो चीज हमें नहीं समाती उसका रिजल्ट नहीं आता इसी तरह नेचुरल मेडिटेशन में क्या है गहराई में उतरना है हाँ, आ? सिर्फ शब्द में नहीं है कि भगवान है या मेरे पिता है नहीं पिता तो है ही इस पर फादर तो कोई डाउट नहीं है भगवान हमारे पिता है इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन मैं उसके प्यार में कितने गहराई तक उतर जाऊं हाँ, ये है असली अनुभव और ये है असली रियलाइजेशन हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं तो मैं इस आत्मा के अस्तित्व में कितने गहराई तक उतर रही हूं कितनी एकाग्रता है इसमें और उसी एकाग्रता की शक्ति से ही हम परमात्मा के लिए हर एक गुणों को परमात्मा को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं जिस तरह हाँ, भाई साहब ने भी हाँ, अभी कहा ना अपने अनुभव में भी कि हमें विश्वास है अक्षय बाबा पर अपने राम पर कि वो मेरे साथ हैं क्योंकि हर पल पल को अनुभव कर रहे हैं हमें परमात्मा को अनुभव करना है और उसके लिए एक चीज की आवश्यकता है वह मन की एकाग्रता भगवान की शक्ति आज भी हमारे चारों तरफ है अभी भी है लेकिन क्या हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं हाँ, क्योंकि अभी क्या हुआ है मन हर जगह अब भरा हुआ है किन्नी किन्नी बातों में है अभी वहां जाना है ये जाना है वो जाना है लेकिन जब हम अपने मन को एकांत करते हैं उस ईश्वर पर तो उसकी अनुभूति हमें होती है आप सभी चाहेंगे पांच दो मिनट होता है हाँ, दो मिनट के लिए हाँ, सभी राज्यों का अभ्यास करना चाहेंगे है ना तो बिल्कुल सीधे होकर बैठे विचार बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं है ना इसलिए आप विचार कर पाओ अभी उस स्थिति में नहीं हो इसलिए विचार देने का काम मैं करती हूँ मैं आपको विचार देते जाऊंगी आप उस विचारों को गहराई से अनुभव करते जाइएगा ये काम आपको करना है विचार देने का काम मेरा है ओम शांति अपने मन को बाहरी जगत से समेट है कुछ पल हर बातों से अपने आप को डिटैच करके भूलिए अपने आप और महसूस करें जैसे आप बिल्कुल अकेले बैठे हो कोई नहीं है आसपास लौट जाइए अपने बचपन की तरफ उस मासूमगढ़ की तरफ जहां हर बातों से अनजान थे धीरे धीरे अपने भीतर के सांसों को अनुभव करें दिल की धड़कनों को अनुभव करें और अपने आप से बात करिए कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है ये सांसें ये धड़कन किसकी वजह से चल रही है खुद से बात करिए ये मैं हूं जो शरीर को चला रही है मैं This fifteen months deixei meu imaginário. Ligo para baixo, roxo, mente da minha cheia de alma. I must say that you are patient and give your patience. पूरे मस्तिष्क मस्तिष्क में पूरे शरीर में एक एक इंद्रिया शांत हो रही है शांति की तरंग पूरे शरीर में फैल रही है महसूस करते जाए आकाश से परमात्मा प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है सफेद प्रकाश के करने आकाश से आपकी तरफ आ रहे हैं स्वयं भगवान आपको अपनी शांति की शक्ति प्रदान करें देखते जाए परमात्मा किरणों को अनुभव करते जाए शांति की लहरों को महसूस करते जाए उस हल्केपन को शांत आनंद को जो स्वर्ग अनुभव हो रहा है आत्मा और शरीर की सारी थकावट सारा नई चेतना नई ऊर्जा आत्मा में भर चुकी है एक दिव्य और अलौकिक अनुभव हो रहा है मैं शांति के सागर पर परमात्मा my अंदर और वो तो आवाज़ सुनाई थी लेकिन ये जो म्यूज़िक अंदर बजे बहुत पीसफुल है और आत्मा की तरह जो पर महसूस करने लगे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही इस थर्ड राउंड का अगला पार्ट हम लोग कल सुनेंगे और आज के लिए बस और मैं और बहुत धन्यवाद करूंगा ब्रह्म कुमारी अंकिता दीदी को जो संगीत से जुड़ी हुई जीवन मूल्यों को हमारे बीच में उन्होंने शेयर किया और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराया ताकि हम सभी को शांति और प्रेम का अनुभव हो सके बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ कल फिर हम सुनेंगे बाकी के परफॉर्मेंस को आज के लिए बस इतना ही आप सुने हैं पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो